सज्जनों माताओं मानव जीवन का प्रमुख प्रयोजन लक्ष्य कृतकृत्यता क्या है इस मान्यता को अच्छे प्रकार से प्रमाणों से परीक्षित करके निर्णित कर लेना चाहिए और उस समय किस प्रकार से हम निर्णित करते हैं किस प्रकार से क्या क्या बाधाएं उपस्थित होती है ये प्रसंग प्रकरण है अब आपके समक्ष एक साधन और एक बाधक इसको उपस्थित किया जाता है ईश्वर प्राप्ति ईश्वर साक्षात्कार इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए संसार के पदार्थों से अपना स्व स्वामी संबंध छोड़ना इसका परित्याग कर देना और समस्त पदार्थों का स्वामी ईश्वर को स्वीकार करना आप क्या समझे आप सुनाएंगे ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर होने के लिए समस्त संसार के पदार्थों से स्वस्वामी संबंध तोड़ देना एक बात और दूसरी बात उन समस्त पदार्थों का स्वामी ईश्वर को मानना ये दो बात स्पष्ट करें यह एक प्रमुख साधन है ये ईश्वर को मानना ये साधन का भाग है और ये जो अपने आप को जो मानना ये बाधक है अपने स्वामित्व को छोड़ना हटा देना ये यदि नहीं हटता नहीं छूटता तो कभी भी ईश्वर प्राप्ति होगी ही नहीं प्रकार से फिर से सुन लो जब तक व्यक्ति समस्त पदार्थों के साथ अपना स्व स्वामी संबंध रखता है या रखेगा और ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करेगा वो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाएगा वो पूर्ण प्रयत्न प्रयास से अपना स्वामित्व हटाना ही पड़ेगा ईश्वर का स्वामित्व स्वीकार करना ही पड़ेगा इसमें विकल्प नहीं वैदिक सिद्धांत आर्यों की मान्यताएं या ईश्वर को मानने वालों औरों की भी ये प्राय है प्रचलित हैं रहती हैं मानते कहते हैं कुछ लोग जैसे हम ये सोचते हैं सुनते हैं सब कुछ ईश्वर का ऐसे ही पढ़ाते भी हैं सब कुछ ईश्वर का ऐसे ही वार्तालाप भी कहते हैं सब कुछ ईश्वर बताओ आपकी चर्चा छेड़ दो थोड़ी बहुत <laughs> दुखी हो जाती हो रखे तो क्यों पता <laughs> दर्जी भाई को ले लो इनको छोड़ दो और कोई माता पिता को ले लो घरों में जब जाते हैं ना कई बार तब ये चर्चाएं आती हैं कि ये भवन किसका है ये अमुक भूमि किसकी है ये अमुक वस्तु वो कहते हैं स्वामी जी ये तो सब कुछ ईश्वर का है हमारा तो क्या है ऐसा आप सुनते होंगे या ऐसी चर्चाएं चलती अध्यापक जी होती है या नहीं प्राय ऐसी होती रहती वो ये परंपराएं ये मान्यताएं इस रूप में वैदिक मान्यताएं हैं अपने आप में उनका विकृत रूप क्या क्या हुआ लोगों में जाकर के अलग बात है और परंतु जब उन हजारों या लाखों लोगों की ये बात सुन, सुनते हैं हम कि ये ये कहते हैं सब कुछ का स्वामी ईश्वर है और माता पिता कहते ये बेटे हैं ये बेटियां हैं ये ईश्वर की है हमारा क्या ऐसा कहते हैं आपने सुना परंतु जहां तक स्वस्वामी संबंध का क्षेत्र आगे ऊंचा क्षेत्र है अच्छा क्षेत्र है पूरे के पूरे को चलिए आधे को छोड़िए पौने को छोड़िए पूरा क्षेत्र ले लो पूरा का पूरा स्वस्वामी संबंध का परित्याग और पूर्ण रूपेण ईश्वर को स्वामी मानना इसका ग्रहण इसके इस रूप में इस अवस्था में पहुंचने वाले व्यक्तियों का दर्शन करना मुश्किल हो जाएगा कितने हैं वोट में ये हम नहीं जानते कितने ऐसे व्यक्ति होंगे उनको छोड़ो हमारी दृष्टि मेरी दृष्टि में तो ऐसे लोग प्राय उपलब्ध हो नहीं रहे इतना अभाव है अच्छा अब ब्रह्मचारियों से बात करूंगा सीधी और सीधी बात पूछने से आपको दुख होता हो तो पहले मुझे सूचना दे देना <laughs> कि बीच में न पूछना मुझे सीधी बात वही है ऐसा व्यक्ति बताओ अब आप यूं संकोच करेंगे कि ये कहना भी अच्छा नहीं है कि मेरे ने बताना <laughs> ये एक कठिनाई और आ गई और एक घटना सुनाऊ वो विवेक जी की है बहुत दिन हो गए कितने दिन हो गए जो दिल्ली में सत्संग चलते थे और ऐसे इनकी लगभग ब्रह्म वो ब्रह्मचारी की मंडली चल रही थी या बंद हो गई थी लगभग ऐसा तो विवेक जी के दोष सबके सामने सुनाता मैं इनमें ये दोष है ये भी है ये भी है तो विवेक जी ने अनुभव किया है तो बहुत बुरा हो गया है और फिर मुझे कहने लगे स्वामी जी ये सबके मध्य में सबके बीच में मेरे दोस्त अच्छे नहीं लगते ये न सुनाए जाने चाहिए आदि आदि तो मैंने कहा मैंने क्या सोचा कहते मैंने कहा ये सुधार की ओर से पीछे हटना चाहते क्या समझ माया मेरी दृष्टि में ये सुधार की ओर से पीछे हटना चाहते हैं मैं तो इसलिए सुनाता था कि आगे बढ़ेंगे अब ये अपने रिश्तेदार की वजह से पीछे हटना चाहते तो फिर मैंने सोचा अच्छा तो चलो मैंने कहा अच्छा ऐसे कर, ऐसे करना चाहिए मैं न आपके गुण सुनाऊंगा न दोष सुनाऊंगा कोई आपत्ति नहीं मुझे ऐसा करता हूं उसी दिन या दूसरे दिन लगभग इन्होंने फिर विचार किया फिर सोचा फिर आके कहने लगे नहीं आप सबके बीच में मेरा जो कुछ है दोष आदि जो सारे सुनाया करो ये प्रयोग ऐसे होते हैं सामने रखना कोई व्यक्ति यदि ये मानता है कि ये सबके मध्य में मेरे दोस्त सुनाई से मेरा बहुत नुकसान होगा बड़ी हानि होगी आघात है तो लोगों के मध्य में दोषों को सुनाना इससे बुरा और क्या होगा आदि ऐसा जो व्यक्ति सोचता है मानता संकोच करता याद रखिए वो व्यक्ति कभी योगी नहीं बन सकता कभी भी नहीं बन सकता मेरी बुद्धि ये काम कर मेरे अनुभव कहिए या ऋषियों की बात कहिए नहीं बन सकती आप इस बीच वाले पाठों को जो बीच बीच में आते रहते इनको ये मान के न छोड़ देना कि बीच में विषय आ गया था इसको क्या लेना देना है ऐसा मत मानो आत्मलिखन कर लेना आप अच्छी तरह तो मैं आपको सुना रहा था अब ऐसी स्थिति जो नहीं बना सकता वो योगी नहीं बन सकता साक्षात्कार की बात कर रहा हूं सामान्य योगाभ्यास करना एक अलग स्थिति भी रहती है वो इससे साक्षात्कार नहीं कर सकेगा जो व्यक्ति मन वाणी शरीर से अपना स्वामित्व हटाता है हटा देता है इसको स्वीकार करता है इन वस्तुओं का अपने आप को स्वामी बनाना बाधक है ये भयंकर बाधक है ये पूरा का पूरा अवरोध कर देता है व्यक्ति की कितनी बातों में करता है कहां कहां पर यह करता है बाधाएं कितनी अपना मानने पर क्या क्या आपत्ति खड़ी करता है ये मंतव्य उसका आप परीक्षण कर सकते हैं यहीं से बहुत से भयंकर दोष चलते हैं मैं और मेरा इसकी पुष्टि की दृष्टि से एक महाभारत का प्रकरण सुनाता हूं छोटा महाभारत का अध्ययन करते समय स्वामी जगदीशरानंद जी ने जो संशोधित रूप में किया है उसका अध्ययन करते समय एक प्रकरण आया उसका भाव सुनाता हूं शब्द इधर उधर हो सके मम इति अक्षर द्वयम बंधन कारण है क्या है लगभग मैंने कहा भाव सुनाऊंगा ज्यों का त्यों हो ये नहीं कहता बात मम इति अक्षर द्वयम बंधन कारणम न मम इति अक्षर त्रयम मोक्ष कारणम क्या समझ में आया अध्यापक जी आज समझ में इन शब्दों को अक्षर बोल रहा है ना वो मम इति अक्षरद्वयं म जो है ना मम मेरा इति अक्षरद्वयं बन्धनकारणं बंधन कारणम न और लगा दिया न मम इति अक्षर त्रयम मोक्ष कारण मुक्ति कारण ऐसा शब्द का प्रयोग हो सकता है इसलिए आप इतनी सज्जा करें इस स्तर को आप अपने जीवन में लाएंगे पैसा लाएंगे और उसको बनाया रखेंगे चौबीस घंटे पूर्व के संस्कार इस जन्म के भी संस्कार और वर्तमान में जिन स्थितियों से हम जन्म से लेके आप आए हम यहां तक उस समय के संस्कार वो इतने दृढ़ होते हैं कि वो, वो मैं और मेरे इस मान्यता में इतना जकड़ा हुआ होता है जैसे कि वो छूट ही नहीं सकता अत्यंत आपत उलझा हुआ अच्छा मैं आपसे सीधी बात करूं उस ओर से धर्मवीर जी सुनाए क्या धर्मवीर जी आपका ये छूटाया नहीं मैं और मेरा ईश्वर का बनाया नहीं बना कितना ही नहीं बना मतलब आप बोलो कुछ भी नहीं बना आपका कभी कभी बन जाता है फिर उसको छूट जाता है लगभग पचास प्रतिशत बना पचास आधे भगवान कभी कभी बनाने पर बनता है सामान्य रूप से नहीं बना है हाँ। नहीं बना स्वामी हाँ जी बहुत अधिक अंशों में अपने आप को स्वामी समझता हूँ हाँ जी आनंद जी बनता है और कौन रहेगा आप पुराने में से ये तो नए हैं ना लगभग आप अब देखो योग के क्षेत्र में कितने आगे बढ़े आप अब बताओ कितने बढ़े आगे बहुत कम कोई आप में से कहता मैं आधा तो चला गया परंतु ये भी सदा जोड़ते रहिए ये कोई असंभव कार्य नहीं है ये केवल हमारा प्रशिक्षण बाल्यावस्था से उल्टा हुआ है इसलिए भी जटिल बन गया है याद नहीं आप माताओं को याद दिलाओ एक आध बात जब कुछ लड्डू देंगी बच्चों को जलेबी देंगी फल देंगी और एक छोटा बच्चा कल्पना करो और कई बड़े बड़े हैं वो खिलाने लगती है ना जो कई माताएं ये इनकम मैं नहीं कहता ये करती है ऐसे माताएं करती हैं क्या करती हैं छोटे बच्चे को लड्डू जलेबी अच्छी चीज खिलाने के कई लोग माताएं होती है खाओ खाओ नहीं तेरी बहन ले जाए ये तेरा है वो उसको ऐसे पाठ पढ़ाते हैं अब पता नहीं बालक वो पांच का था सात का था कुछ ऐसे हम उनके घर पर बैठ गए जैसे बैठ जाते हैं और वो कहता है ये घर हमारा तेरा नहीं है ये घर हमारा मेरे सामने कह रहा था तो ये ऐसी विचारधारा बच्चे में भर दी जाती है वो बढ़ते बढ़ते ऐसे ऐसे जटिल संस्कार बन जाते हैं और वो व्यक्ति उससे जब छूटना चाहेगा कितना परिश्रम करता है और बार बार सुनता पड़ता है तो पर उसमें कमी नहीं कर पा रहा है परंतु ये याद रखना यदि उचित रूप में यदि परिश्रम करता है व्यक्ति वास्तव में सिद्धांतों को आधार बना के परमाणु से वो व्यक्ति इसको उखाड़ देता और उसको उसकी स्थापना कर देता ईश्वर के स्वस्वामी संबंध को स्वीकार कर लेता अपने स्वस्वामी संबंध को उखाड़ देता परंतु उखाड़ने पर भी आप याद रखना वो उखड़ा हुआ फिर नहीं आता ऐसा नहीं है क्या समझ में उखाड़ना एक बहुत ऊंची स्थिति है फेंक देना अच्छा वो जमा रहे थोड़े से परिश्रम से थोड़े से काल में वो जमा रहे और जमा ही रहे ऐसा नहीं रहे क्या होगा बताओ नहीं आया समझ बताओ क्या होगा असावधानी होने पर वो फिर आगे जुड़ जाएगा वो वो वो जो स्वस्वामी संबंध थोड़ा सा असावधान होते ही फिर वही संस्कार वही स्थिति फिर आगे खड़ी होगी वो फिर उखाड़ेगा फिर खड़ी होगी मासों तक चलो फिर वर्षों तक चलो उसको निर्बल बनाना निर्बल निर्बल बनाते बनाते बनाते बनाते अधिकार पूर्वक में रहना इसकी कितना समय लगाएगी और कितना लगेगा व्यक्ति की अपनी योग्यता के ऊपर है तीव्र संवेगा आसन में ये तो समझिए आप नहीं समझे तीव्र संवेगा नाम इसको तो गया ना उसके आधार पर जमी पूरी दिन भर जमी रहे और उसको उखाड़ नहीं सके कभी कभी ये बात सुनने को मिलती है एक बार ऐसा प्रजा समाधि में चला गया व्यक्ति चला गया तो मोक्ष हो जाएगा ऐसे सुना होगा आपने या नहीं सुना नहीं सुना तो मस्त हमने जो सुनी है कि भाई एक बार ऐसा प्रजा समाधि में चला गया व्यक्ति बस हो गया मोक्ष दो बार उसके टूटने की बात है और अभ्यास की बात नहीं वो मोक्ष में चला जाता है अब इसका मतलब है कि ये मानने वाला व्यक्ति वास्तव में इस विषय को जानता नहीं है सुना होगा व्यास भाषा में बया कि भाई कभी वित्थान तो कभी निरोध कभी आया है ना नहीं आया वो उसी व्यक्ति का तो है कभी वित्थान अवस्था आएगी तो कभी विरोध आ जाएगी वो आएगी वो तो उखाड़ देगा आया है नहीं आया प्रमाण की दृष्टि से आया है नहीं आया वो कैसे वो वो दब जाता है वो आ जाता है या उखाड़ देता है जीवात्मा उस पर तो उसमें ये भी जानना चाहिए हमें उचित प्रयास कर इसको लाने के लिए इसको अपने जीवन में उतारने के लिए व्यक्ति के लिए बहुत से ऐसे सिद्धांत मान्यताएं हैं उसके साथ संपर्क रहती हैं अनेक उनको जानता है उनको हटाता जाता है तब ये सरल हो जाता है हटाना ये बात समझ में आ गई कि आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं ये तो आई नहीं समझ बोलो आप बताइए अपने विचार आप कर सकते हैं नहीं ऐसा कर सकते हैं क्यों जी विश्वेश ठीक है आजकल शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी बातें भी चलती हैं कि ये मत कहो कि बहुत कठिन ऐसे प्रशिक्षण में लोग बताते हैं ये न कहो क्यों अध्यापक जी आते ही कही कठिन कार्य को ये कह के मत कहो कि बहुत कठिन ये बहुत कठिन है यही कहोगे बहुत सरल है बहुत सरल है बस ये कहते जाओ तो ठीक है बहुत कठिन है बहुत कठिन निराशावादी बनकर बैठ जाता है और ये मत कहा वास्तव में उसकी कठिनाई भी बतानी चाहिए और वो प्राप्त किया जा सकता है इसको आशावादी भी बना देना चाहिए संतुलन तो यही कभी कभी कुछ व्यक्ति योग के विषय में सुनकर के आनंद मिलता है और वो जट गुरुकुल में आते हैं या सीखने जाते हैं और वो प्रयास करते हैं जिसे होता है उनको आनंद मिलता है कृत कृत्य हो जाता है योग के फलों को सुना है उन्होंने और वो चाहते हैं कि तत्काल गुरुकुल में जाते ही हो जाएगा या गुरु जी के पास जाते ही हो जाएगा ऐसी स्थिति लेके चलते प्राय वो ये नहीं जानते ये जो आनंद मिलता है ये ईश्वर की प्राप्ति कृत्यता होती है ये कितने परिश्रम से कितने ज्ञान कर्म उपासना से मिलता है ये नहीं है ऐसा होता है आनंद की बात सुन करके उपलब्धियों की बात सुन के व्यक्ति झट ललाई अब मैं एक थोड़ा सा समझाने की दृष्टि एक युवक वो जो आधुनिक जो डॉक्टर बनते हैं उस में पढ़ रहे थे ऐसा जहां तक कुछ याद इतनी योग्यता लगभग मुझे याद अब वो जब गुरुकुल में गए आए तो प्रतिज्ञा के करते हुए या संकल्प करते हुए जहां तक मुझे याद है अपने खून से हस्ताक्षर कर थोड़ा सा निकाल करके जैसे होता है अब वो गुरुकुल में रहते रहे रहते रहे कुछ चलता रहा चलता रहा होता है ना नीचे तो फिर पता नहीं पिताजी की मृत्यु हुई या क्या घटना घटी अब वो जाट तत्काल वहां से भाग गए चले गए <laughs> कुछ नहीं रुक रहा और कितने वर्षों के पीछे मिले फिर अब ये जो व्यक्ति का दिमाग है ये सरल है सरल है मान के चलो और उसकी कठिनाई का तो अनुभव करता नहीं परिसर में उसको नहीं सिखाया जाए तो उसकी यही गति हो जाएगी वो समझ लेता है योग ऐसी चीज ऐसे कर दो हो जाएगा एक घटना और सुनाता हूं ये लोग ध्याना की लंबे काल की प्रातः काल जैसे मैं योगाभ्यास में बैठता हूं मुझे ध्यान में बैठते हैं ऐसे बैठते हैं तो एक व्यक्ति आया मैं कुछ योग के विषय में सीखना चाहता हूं तो कहने लगे जब आप योग में अपना कुछ करते कराते हैं और बैठे रहते तो वो क्या करते हैं कि ईश्वर की मैं स्तुति प्रार्थना उपासना से करता हूं बैठ करके ये मैं सिखाना आरंभ मैंने सोचा ये पर्याप्त होनेगा ये समझेगा ये मैंने सुना नहीं इतना कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता हूं मैं तो सुन चले गए हाँ मैं समझ गया अब वो चले गए आ गया समझ <laughs> समझ में आ गया वो आपने इंद्र और प्रयत्न की कथा सुनी है ना सुनी सुनी तो आप देखेंगे आप यहां आए हम विद्वान बनेंगे दर्शन पढ़ेंगे व्याकरण पढ़ेंगे ये और यहां और योगी बन जाएंगे और फिर आने भी आने नहीं मिलेगा ऐसा मत सोच लेना क्यों आपको आनंद तक पहुंचने के क्या करना पड़ेगा सिद्धांत रूप मान्यता के रूप में अपने आप को मार करके समाप्त करके चलना पड़ेगा नाम और नामी नहीं रहेंगे वहां क्या समझ में आया देवदत्त नाम है इस शरीर का और ये शरीर नामी ये समाप्त हो जाएंगे और अपना नाम और नामी शरीर समाप्त होते विश्व के नाम और नामी भी समाप्त हो जाएंगे वहां पर जाना पड़ेगा जब नाम और नाम ही समाप्त होंगे मैं और मेरा वहीं समाप्त होंगे ठीक है तो स्वस्वामी संबंध जो है इसको जान के समझ के उखाड़ना चाहिए उखाड़ के देखो समझ रखिए दोष से छोटा हो मध्यम हो बहुत भयंकर हो एक सिद्धांत को याद रखिए जो व्यक्ति अपने दोष से संधि समझौता करता है प्यार करता है वो उस दोष से छुटकारा नहीं पा सकता दोहराओ क्या समझ में आया जो व्यक्ति अपने दोष से संधि करता है संधि करता है वहां व्यक्ति दोष छूट नहीं पाता आप आत्मनिरीक्षण करना दिन भर कब कब आप अपने दोषों से संधि समझौता प्यार कर और उनको भयंकर नहीं मानते घातक नहीं मानते स्थिति क्या बनती है दोष से प्यार करते हुए कोई व्यक्ति उससे टकराएगा उसका विरोध करेगा उखाड़ के फेंकने की बात सोचेगा वो नहीं कर पाएगा तो इसलिए अपने दोष से इतना विरोध रखना चाहिए जितना किया जा सकता ये जो मानसिक स्तर है हमारा मानसिक स्तर पर विविध तृष्णा विविध राग या द्वेष होते ना मानसिक स्तर पर वो उस स्तर पर जो वो दोष रहते हैं राग द्वेष वो व्यक्ति उनका अच्छे प्रकार से विरोध नहीं करता अच्छे प्रकार से विरोध करते रहने से जिनको हम अच्छा मान बैठे थे उसको फिर बुरा मानना बड़ा भारी परिश्रम करने की आवश्यकता है जिनको हम आज तक अच्छा मानते रहे जैसे यहां से चलो हम अपने आप को स्वामी मानते रहे इसको ले लो इन वस्तुओं का अपने आप को स्वामी मालिक मानते रहे आज आपने उसको छोड़ना है तो भाई तो अत्यंत परिश्रम अत्यंत संघर्ष अति तपस्या कितनी करनी पड़ेगी फिर भी मानसिक स्तर पर स्वस्वामी संबंध को आप थोड़े से परिश्रम से हटा देंगे ये नहीं कहा जा सकता पर असंभव कुछ नहीं इसको भी साथ रखें कभी कभी व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है वर्षों तक करता है जब वो सिद्ध न हो तब उसको बड़ा आघात पहुंचता है निराशा की वो धाराएं जो उसको घेर ले दबा दे ये कैसे सिद्ध हो जाएगा कि मनुष्य भी बुरा नहीं सोचू कैसे सिद्ध हो जाएगा मनुष्य बुरा कभी नहीं सोचू ये कैसे सिद्ध होगा ऐसा सोचता है परंतु ऐसा है नहीं पहले वाले जो संस्कार बड़े प्रबल हैं जो जन्मांतर के इसके लिए उनके ऊपर मार मारते मारते ईश्वर प्रणी नाथ जप यम नियम का पालन प्राश्चित सब कुछ सत्संग महापुरुषों का ये करते करते करते करते व्यक्ति उसको ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है उसको दिखने लगता है हाँ आशा बनती है कि हाँ अब मैं इसको बिल्कुल समाप्त करूंगा और ये भी फिर वो देखने लगता है कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि सामने वो प्रलोभन देने वाली वस्तु खड़ी हो समर्थ तो उसकी इच्छा नहीं हो एक तो होती है हमें उस अच्छी वस्तु से प्रलोभन देने वाली वस्तु से रोक दिया एक स्थिति अलग है अंदर इच्छा है उद्वेग है बल से रोक दिया रुक गया एक ऐसी स्थिति है बल से रोकने लगे रुक गया ही नहीं <laughs> अब क्या समझ में आया स्थिति समझ में रही है घर एक सामने बहुत सुंदर वस्तु आई प्रलोभन देने वाला आई आप रोकना चाह रहे हैं तो रुक नहीं रहा मन जा ही रहा है प्रयत्न करते हैं फिर भी फिर भी गया और कई बार ऐसा होता चलो इसको देख ही क्यों नहीं लग क्यों खाम खाई देख रहे पड़ एक एक स्थिति होती है वो प्रयत्न करता करता क्या करता है वो उसको रोक देता कभी कभी यहां भी तर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना का वो आता पुट प्रतिपक्ष भावना करो यहां ये युद्ध करना है तो ये आवश्यक है जब भी तर्क उठते हैं उल्टे वहां प्रतिपक्ष भावना करके युद्ध करो युद्ध करो आप जीत जाएंगे यदि आप ढीले पड़ गए तो क्या कहेंगे मोटी भाषा में मन जीत जाएगा हाँ मन वहां पर लग ही जाएगा और फिर ये भी हो सकता है कि आप उसको देख या करके कहें यार तो बहुत बुरा हुआ <laughs> क्योंकि पीछे पश्चाताप होता है ना ये बुरा काम होना नहीं चाहिए था ऐसी स्थिति भी आ, आ सकती है एक ऐसी स्थिति है उसने रोक दिया नहीं जाने दिया पर उद्वेग उसके जाने वो ये देखता है कि भी ऐसी स्थिति आएगी या नहीं आएगी वस्तु सामने खड़ी और मुझे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़े सांप काला है उसका आदेश का निजी चाहिए हो समझ में आया तो आप वहां पहुंच जाएंगे काले सांप की ओर हाथ क्यों नहीं बढ़ाता पकड़ने के लिए छेड़ने के लिए तो ऐसी स्थितियां सब आएंगी और यही जो प्रक्रिया पद्धति रीति है जो स्वस्वामी संबंध की इसके संस्कारों के साथ भी है ये और अन्य संस्कारों के साथ भी है आप जो परिश्रम करते ना आजकल जो एक तो अध्ययन का करते फिर आप योगाभ्यास में करते फिर यमनेम का करते फिर इस मन को जीतने का करते फिर स्वस्वामी संबंध को तोड़ने का करते ये एक साधारण परिश्रम जितने स्तर पर होना चाहिए उसको देखते हो आप अपनी तुलना गांव वाले और उनसे नगर वाले से मत कर बैठना कभी एक एक एक वो सुनाता हूं कहना चाहिए एक दृष्टांत अथवा एक घटना तो एक गांव था उसमें समाज का अच्छा वातावरण था एक का नाम सिंह था एक अपने उपदेशक की, की चर्चा चली तो उसमें सुनाया कि भाई सिंह जी आप वोट नहीं लेगा ये नहीं करते वो नहीं करते आदि आदि तो सिंह जी कहने लगे हमारे गांव में यहाँ मैं जितना आर्य समाजी हूं इतने स्तर पर मैं अच्छा काम करता हूं एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा उसने कहा उपदेशक ने हरी सिंह जी आप कूड़े के साथ अपनी तुलना कर रहे कूड़े क्रिकेट के साथ <laughs> जब कूड़े के साथ आप आप करें तो फिर तो आपका बहुत ऊंचा आकाश में घूम रहे आप <laughs> उन्नति और यदि ऋषियों के साथ करो तो आपका साधारण थोड़ा सा परिजन में थोड़ा सा बचे अब दे रहा स्वामी मानना व्यवहार में उसी का प्रयोग करना यह ईश्वर साक्षात्कार का विरोधी कारण है बाधक है इन दोनों साधक और बाधकों को जानना अनिवार्य है और व्यापार में उतारना भी अनिवार्य है जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता या नहीं करता वह योगी बनकर समाधि प्राप्त करके ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाता नहीं कर सकता कभी भी नहीं कर सकता मेरी बुद्धि के अनुसार अब ईश्वर जो आवश्यक विचार हैं आवश्यक कार्य है आवश्यक समझना है जब ये बात कही गई कि ईश्वर को स्वामी मानना उचित है अपना स्वामित्व हटा देना ठीक है तो एक बात उभरती है कि हम क्या शरीर का इंद्रियों का बुद्धि का विद्या का धन संपत्ति का स्वामी न माने ये शंका उभरती है उसका उत्तर है कि हम इन शरीर आदि वस्तुओं का शरीर इंद्रिया बुद्धि विद्या धन संपत्ति का स्वयं को गौण स्वामी मानेंगे ईश्वर को मुख्य स्वामी मानेंगे आप बोलिए क्या समझ में आया उसका समाधान क्या आया जो शंका उभरती है क्या हम इनका स्वामी स्वयं को न माने इनकी रक्षा भी न करें इनका पालन पोषण न करें धन संपत्ति को न संभालें ऐसी बात है क्या ये सब कुछ करेंगे हम क्या समाधान हुआ ईश्वर को स्वामी मानेंगे और स्वयं को भी जो हमको न्याय से उपलब्ध है उस वस्तु को लेकर शरीर इंद्रिया बुद्धि विद्या अच्छी प्रकार से कमाया धन उसका हम स्वामी स्वयं को मानेंगे कहेंगे कि ये हमारा शरीर है ये मेरा धन है पर हम उसके गौण स्वामी हैं मुख्य स्वामी नहीं मुख्य स्वामी ईश्वर है ये अंतर समझ लेना चाहिए ये समन्वय यदि नहीं करना आता तो भी उलझन खड़ी रहेगी क्योंकि आप ये मान बैठे थोड़ी सी देर के लिए हम इसके स्वामी हैं ही नहीं शरीर का हमारा कोई संबंध नहीं है इंद्रियों का हमारा कोई संबंध नहीं है धन संपत्ति खाने पीने की चीजों का कोई इनको बिगड़ने दो नष्ट भ्रष्ट होने दो कुछ भी हो वो ऐसा मान सकता है या नहीं ऐसा कर सकता है कुछ लोग कहा करते हैं खुली अलमारी है दरवाजा खुला है आभूषण सोना रखा है और कहते देखो ईश्वर रुखवाली है वही उसी की है ये चीजें वही रुखवाली करेगा समझ में आ गया नहीं आया या कोई शंका आई है जी अब ये संतुलन अवश्य ही बनाने योग्य है इसलिए बिना आप नहीं चल सकते इस मार्ग पर और स्त्री बात इसी के विषय में और बातें सुनिए आप एक प्रसंग है कि क्या ईश्वर को स्वामी मानना अपने को उसे हटा देना नहीं मानना इसमें क्यों क्यों मानते हैं हमें ईश्वर को मुख्य स्वामी क्यों मानते अपना स्वामी तो क्यों हटा लेते इसमें न्याय है इस शरीर की रचना इंद्रियों की रचना नाड़ियों की रचना और बाहर के पदार्थों की रचना जलवायु आकाश आदि इन पदार्थों की रचना जो भी कुछ आपको दिखता है इसकी रचना करना इसका निर्माण करना ये ईश्वर का ही प्रमुख कार्य है ईश्वर यदि इसको नहीं बनाता सृष्टि की रचना को लेकर चलिए तो जीवात्मा तो एक की बात छोड़ो पूरी सृष्टि के जीवात्मा एक जल का दाना नहीं बना सकते अपने सामर्थ्य दोहराओ संसार के सभी जीवात्मा मिलकर बिना ईश्वर की सहायता सृष्टि रचना को ले लो दिमाग एक तिल का दाना नहीं बना सकते मेरी बुद्धि ये काम करती है आपकी क्या करती है सोचिए कोई बात जचती है नहीं जच रही कुछ आता है समझ में या शंका है क्यों जी क्यों नहीं बोलते नहीं आया समझ आ गया अब जैसा तर्क प्रमाण से समझ में आ गया तो दिमाग और वाणी और शरीर में आचरण भी बजाई गई आप अब इसके साथ जोड़िए यदि ऐसा आ गया समझ में तो मुख्य स्वामी ईश्वर है और आपका व्यवहार कैसा होगा अध्यापक जी को ले लो वो नए आए हैं यहां आर्यवन विकास में आए में रहते हैं भोजन खाते पीते हैं कल्पना करें वो सारे साधन मिल गए अब उस स्थिति में ये मानते हैं ये भवन ये सारे के सारे पानी भूमि और जो कुछ है ये आर्यवन विकास के अधिकारी न्यास के अधिकारियों का ये सारा जो कुछ धन संपत्ति है उनकी है और मेरी नहीं है यही तो दिमाग है नहीं पर उपयोग वो भी ले रहे हैं इनसे लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हाँ या ना इसी प्रकार से दूसरे की धन संपत्ति जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है जी उससे कभी हम प्रयोग करते हैं उसका और उसका प्रयोग सोएंगे वहां कहीं जाएंगे तो सोएंगे कोई खाएं पिएंगे आदि उस समय उसका मन दिमाग कैसा रहता है कि ये सब वस्तुएं इस व्यक्ति की हैं और मैं इनका उपयोग कर रहा हूं यही तो दिमाग है या नहीं है यदि आपका मन आपकी बुद्धि यदि दैनिक जीवन में ऐसी रहती है तो आप समझ लेना हम ठीक समझ रहे हैं यदि इससे विपरीत रहती है तो आप ठीक नहीं समझ रहे उन्नति हो नहीं पाएगी एक और शंका उभर सकती है वो व्यक्ति सोचता है ये जो शरीर है मैं खाता हूं पीता हूं व्यायाम करता हूं और औषधि से चिकित्सा भी करता हूं अन्न कमाता हूं फिर भोजन बना के खा भी लेता हूं तभी तो जीवित है शरीर यदि मैं न खाऊं न पीऊं तो मर जाएगा ये तो ऐसा होगा ही नहीं होगा क्योंकि हां या ना फिर ईश्वर को मुख्य स्वामी माने मुझे गुण ये कैसे हो सकता है अब हम न खाए पिए तो मरेगा या नहीं मरेगा फिर ईश्वर मुख्य कैसे हुआ इसका स्वामी कौन उत्तर देगा आप मुझे बोलो आनंद जी जैसे एक अध्यापक स्कूल में कार्य करता है हाँ उनको वो पूरी सुरक्षा रखता है पूरी व्यवस्था करता है लेकिन ये मान के चलता है कि ये शासकीय स्कूल है मेरा नहीं हाँ लेकिन व्यवस्था पूरी हुई सर हाँ एक अंश का आपने उत्तर दे दिया एक और अंश इसके साथ जुड़ा हुआ है बाहर से इसका उपयोग करके शरीर की रक्षा करेंगे हम्म। वो भी ईश्वर बनाएंगे हाँ जो बाहर के पदार्थ है ना नहीं समझे आप नहीं समझे तो समझ लो जितने पदार्थ हैं हमारी शरीर की रक्षा के लिए हमने जुटाए हैं हाथ पैर तक पहुंच जाइए आप आंख नाक तक पहुंच जाइए ऊन से हम शरीर की रक्षा करते हैं न कि अपने सामर्थ्य से केवल करते ईश्वर अब कुछ समझ में आया हाथ पैर से हम रक्षा करते हैं खाते हैं दांतों से चबाते हैं नहीं आंख से देखते हैं कान से सुनते हैं जो भी हम उन उपकरणों से शरीर की रक्षा पालन पोषण करते हैं वो उनके माध्यम से हम रक्षा करते हैं शरीर की न कि अब केवल अपने सामर्थ्य अब क्या समझ में आया इससे वो गहराई है या नहीं है कुछ वो जो आपने कही वो भी एक भाग ठीक है जो आपने कहा पर ये बात आई समझ में नहीं आई बताओ आई हो तो क्या आई समझ में हाथ पैर आंख नाक जितने भी उपकरणों से हम शरीर का पालन पोषण करते हैं चिकित्सा करते हैं वो साधन ईश्वर के बनाए हैं या नहीं हैं उनसे हम इसकी रक्षा कर पा रहे हैं यदि वो ईश्वर के साधन बनाए को तो हम न लें तो क्या रक्षा कर पाएंगे अब यहां देखिए आप तो ये जो मन बना है कि हम इसकी रक्षा करते हैं पालन पोषण करते हैं जीवित रह नहीं तो रह ही नहीं सकता ये हम जानते हैं अब एक और आगे बढ़िए एक और अंश को देखिए वो है कि क्या जीवात्मा का इसमें कोई भी सहयोग नहीं है इन कार्यों में पालन में पोषण में इनमें कुछ समझ माई हां है जीवात्मा में जो बल है ज्ञान है उसका इतना सहयोग है इतना है उसका प्रतिशत नहीं निकाल सकते हम हम क्या समझ हमारा सहयोग है जीवात्मा शरीर के पालन में पोषण में कार्यों में जीवात्मा का बल जीवात्मा का ज्ञान यहां सहयोगी है पर वो इतना प्रतिशत है कि आप उसका पूरा बताना कठिन है मेरी बुद्धि जो काम करती है इतना इस सरकार इतना जीवात्मा का ये भी वाजन करना कठिन क्या नहीं है उसको कहते नाम मात्र नाम मात्र जीवात्मा का बल और ज्ञान इसमें कार्य करता है क्योंकि क्या गणना होगी ईश्वर के सामर्थ्य के सामने ईश्वर के बल के सामने ईश्वर के विज्ञान के सामने क्या गणना होगी आत्मा अभाव तो नहीं है समझ में आया नहीं जीवात्मा जो सहयोग करता है उसका अपना बल है अपना ज्ञान है वो कितना है इतना कम है कितना कम है उसको थोड़ी सी देर के लिए इसको अलग कर दो जीवात्मा से और उसका बल उसका ज्ञान उसके पास रहे तो क्या उस ज्ञान और बल से जीवात्मा कुछ अकेले से कुछ कर सकता है हाँ है या ना है बोली नहीं कर सकता तो अभाव भी नहीं है सहयोगी है जीवात्मा जो अपने बल से अपने ज्ञान से इसमें सहयोग देता है वो उसका जितने अंश में है हमें स्वीकार है सहयोग स्वीकार नितान्त है स्वीकार पर वो इतना कम है इतना थोड़ा है कि वो नए के बराबर जिसको बोलते इतना है अब बताइए उसके लेकर के जीवात्मा मालिक बन जाए स्वामी बन जाए मैं करता हूं मेरा ज्ञान भी ज्ञान है मेरा बल है मेरा ये है मेरा ये है सारा विश्व लड़ रहा है पूरे विश्व में गदर बचा हुआ मेरे तेरे का नहीं है यदि इस बात को समझ लेता तो सारा झंझट समाप्त हो जाता एटम बम और यार बम पर बम ये दूसरे को मारने के लिए तैयार नहीं किए जाते दूसरे के जीवन बचाने के लिए तैयार किए जाते बड़ा भारी कितना अंतर है पूरा विश्व में जो नरक बना है वो बहुत भाग में सारा ने स्वर्ग बन जाता यदि ये बात समझ लेते पर इन भौतिक वैज्ञानिकों में उसको छोड़ दो सब एक जैसे नहीं होते नहीं प्राय दिमाग खराब है इनका इस क्षेत्र में भौतिक विज्ञान के लिए बहुत अच्छा परिश्रम किया मान किया हम इसका इनका उपकार मानते पर ईश्वर को निकाल देना ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है इनके पास में जो संवैधानिक दृष्टि से कोई जगह नहीं है और ना कोई का मूल्य है अब इतना दिमाग खराब है सारे विश्व को नरक बना के रख दिया और मुक्ति प्राप्ति की तो बात ही नहीं इनके पास में यदि आप अपना कुछ कल्याण चाहते हैं और समाज राष्ट्र को या विश्व को देना चाहते हैं तो आपको ऐसा बनना ही पड़ेगा और जितना परिश्रम आप करते हैं दो तो राय इसलिए जाता है इतने परिश्रम से आप आप, आपको आप बहुत कुछ अच्छा बना पाएंगे समाज को भी देंगे पढ़ाएंगे तो अच्छी बात पर ऊंचे स्तर पर अपने आप को सफल बना देना फिर समाज को यही विद्या दे देना ये नहीं कर सकते आप किसी को किसी का मोह है किसी को किसी का किसी को घर वाले आ जाते हैं किसी को ये होता है किसी को वो होता है किसी को वो हो गया ये हो गया वो भागने के लिए तैयार है वो यहाँ से पढ़ करके कब भागू मैं यहाँ से कबूतर की तरह रुकया हुआ हूँ <laughs> वो सुसज्जित हो गए पढ़ाने भी लग गए वो बहुत अच्छे काम करने लगी और कई बार अध्यापक आचार्यों को बात नहीं आती आप उसको निकाल लेते हो और फिर कहेंगे इसके क्या आता है ये मैं लगा देता हूँ वो पंक्ति का अर्थ तो मैं लगा देता हूँ आचार्य ये देखो ये पंक्ति नहीं लगी मैंने लगा दी अब ये रोग बताओ आप में भी होंगे यदि इसको नहीं हटाए ये इसको आपने उस दिन वो मंत्र पढ़ा था ना केवल संस्कृत पढ़ के शब्दार्थ संबंध के अनुवय करते रहते हैं और आचरण सुधारते नहीं हुआ अंधकार को प्राप्त होते सुना मंत्र में नहीं सुना याद है या नहीं यह यहां पढ़ पढ़ पढ़ा के सुना देते हो लोगों को उस दिन वो सुनाया था ना अनंतम प्रवेशन थी विद्या वाला विद्या वाला विद्या विद्या को जानते हैं इस रूप में वो सिर्फ सुनाया था ये दोष भयंकर आगे बढ़ के नवीन प्रकार का नए प्रकार का मिथ्याभिमान उत्पन्न होता है यदि वो ये जानता है ईश्वर स्वामी है हम स्वामी नहीं तो ये दोष उत्पन्न होगा नहीं नहीं तो होगा इसको कोई रोक नहीं सकता यदि हम आपदों के वचनों को भी याद रखें सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर यही रहस्य है दो बातें कही गई यदि व्यक्ति समझ के आचरण में जाता है तो जो मैं सुना रहा ये सारी स्थिति वैसे ही हो जाएगी जैसे हम चाहते हैं ये जो उभार आया था कुछ शंकाओं का समझ में आया नहीं आया स्वस्वामी का आया फिर जीवात्मा का कितना सहयोग है इस समय ये आया है समझ है ही नहीं ये नहीं है है कितना ये समझ में आया इतना परिश्रम से समझ में नहीं आता जो आपने पढ़ा दिया पढ़ दिया लिख दिया नहीं इसके ऊपर इतना मंथन चलता है इतना विलोडन चलता है इतना व्यक्ति गहराई में डुबकी लगाता है वो संसार की बातों को भूल जाता सांसारिक खाना पीना इनमें रुचि लेना खेलना कूदना हंसना ये उसके न्यून होते चले जाते हैं और इसके ऊपर खोज करता चले जाता है सांसारिक ढंग की जो प्रवृत्तियां या हाव भाव होते ना वो कम होते चले जाते वो ऐसा निर्णय करना चाह रहा है कि अंतिम निर्णय हो जाए कुछ इसका अंतिम निर्णय के लिए कितना गहराई में जाना पड़ेगा और मैं मानने लग जाऊं सीधा अब मैं मैंने जो इसके ऊपर प्रयोग किया आरंभ में जब कि गांव में रहता था जो प्रयोग हुए ना उस समय ये प्रश्न इसी रूप में ये शरीर मेरा ये सुंदर है मैं बलवान हूं आदि होता है ना जब अब मैंने प्रश्न उठाए और उत्तर प्रश्न उत्तर ये चलता रहता था अब मैं इस परिणाम पर पहुंच गया जो मैं मेरा कहता हूं ये झूठ बात है <laughs> ये मैंने उस समय सिद्ध किया था जिस समय किसी से पूछ के बारह खड़ी पड़ी थी विद्यालय में एक दिन नहीं गया था और ये गौ और भैंस और बकरी तीन का पाली खूब रहा लंबे काल तक भेड़ तो नहीं थी गौए थी और भैंस थी और बकरी थी तीन थे पशुओं के विवाह लंबे काल तक जिसे को कहते हैं दस वर्ष होते हैं और फिर उनको चराते थे कालांतर में उनका चराना बंद किया वे खेती का काम जैसे होता है किसी की दूसरे की भूमि बोते थे उसमें बो लेते थे उसमें काम करते थे बस ये और उल्टे लोगों में रहते थे और कहना चाहिए पर्याप्त मात्रा में जीवन उल्टा था हम तो सीधी बात करते हैं आरंभ से जो अंदर है वो बार बार है जो अंदर सारा हमने लोगों को बताने में <laughs> कमी नहीं छोड़ी है ये अलग बात है अब इतना हो गया कि इसके सामने बताने से हानि हो जाएगी इससे थोड़ा सा रोक दो पहले ये नहीं होता था बस हाँ भाई ऐसा है ऐसा था उसके कोई भी संकोच कहीं नहीं अब थोड़ा सा देखते ये अल्लाह उठाएगा या हानि <laughs> तो उसके कहेंगे क्यों कहने से टक्कर होगी तो मछेड़ो <laughs> अब ये तो वो मैं आपको सुना रहा था ये प्रश्न उत्तर उठाए गए और उठाते गए उत्तर ढूंढने उठाना चलता रहा मैं इस परिणाम पर पहुंच गया शरीर मेरा नहीं है तो उस समय ये प्रयोग रूप में ये चीजें आई प्रयोग इसका नाम प्रयोग है अब वहां का मुझे एक उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट याद है जैसे बाजरा बोते हैं आपने देखा होगा ना बाजरा और गुजरात में तो फसल का समय आया बाजरे का अब और एक गुजरात वालों ने एक बाजरे की फसल इसके आने से पहले ही कमाई निकाल रखी क्या समझ जाओ होशियार है ना धन कमाने में गुजरात के लोग नजी भाई ठीक है ना धन कमाना सीखना हो तो गुजरात वालों से सीखो और युद्ध सीखना हो तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान से सीखो क्या समझ में आया नहीं आया समझ में ये तो समझ रही होगी आप धन कमाने की रीति व्यवस्था ढंग सीखना हो तो गुजरात वालों से सीखो तो क्या सुना रहा था मैं बाजरा इन्होंने क्या किया ये फसल तो वो आएगी प्राय गुजरात में क्या करते हैं उष्ण काल में बाजरा बोते हैं और जब तक ये फसल आती है ना बोने की वर्षा काल तब तक पक्के तैयार हो गया अब तैयार हो गया तो निकाल के रख लिया आए बीज वाले जटा मैं ऐसे महंगा दे दिया कल्पना की खूब लाभ उठाते हैं अब बाजरा तो आप बोएंगे सामान्य रूप से एक फसल पहले पैदा करके उपजा लेते हैं गुजरात वाले वो खूब महंगा बकता है बीज में <laughs> अब तो पता अधिकार बाजरे का तो वो बाजरा जब बो रखा था चिड़िया उसको खाते हैं जिसे तोते खाते हैं हमारी ये जामुन खा खा के लुटका देते हैं नीचे वो खाते हैं ना तो मैं उठाता था चिड़ियाओं को वो बाजरा नहीं खा जाएंगे इसलिए तो रखवाली करते हैं तो मैंने जिस दिन ये निर्णय किया कि बाजरा भी तो ईश्वर का है तू मेरा समझ के क्यों उड़ाता मैंने उस दिन के पीछे कोई चिड़िया नहीं उड़ाई यद्यपि लौकिक दृष्टि से ये कहेंगे पागल है पागल कह सकते हैं ऐसी तो बात आएगी उनके दिमाग पर उस व्यक्ति ने सोचा सत्य तो यही है सीधी बात है यही है तो फिर तुम यूं क्यों मानता वो समन्वय तो था नहीं कि ईश्वर मुख्य स्वामी है और हम गौण ईश्वर ऐसे ऐसे तो था नहीं ना तो नितांत नहीं उड़ाई खत्म समाप्त ये मैं इसलिए भी सुना रहा हूं ये विद्या मिलेगी तो ऐसे मिलेगी नहीं तो इस विद्या को आप प्राप्त नहीं कर सकते शायद मीमान सकाचार्य जी हैं बोधने से सुनते हैं पर इन्होंने ऐसी स्थिति बनाई नहीं अब तक जाने आचार्य जाने से भी मेरी बुद्धि से बना ली हो नीचे नीचे मेरे समझ में इन्होंने भी नहीं बनाई विवेक जी ने भी नहीं बनाई अभी बहुत कुछ किया है बहुत विद्या है इनके पास में इनका निषेध नहीं बहुत गुण है राष्ट्र के लिए लगा हुआ है इसका निषेध नहीं करें तो याद सोचो कि ये बात ये गहराई से बात इसलिए भी बताई जा रही है सबके बीच में मैं बताऊंगा तो अधिक ध्यान देंगे और दूसरे पक्ष में ऐसा भी होता है बुरा मान जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे विरोध करेंगे ये भी परिणाम हो सकता <laughs> परिणाम दोनों तो मैं सुना रहा था आपको ये ये जैसे अवस्था जो मैं सुना रहा ऐसे प्रयोग करता जाता है व्यक्ति बहुत मंथन करता है व्यक्ति लगा रहता उन दिनों में भोजन में क्या करता था क्या खाता था क्या होता घरवालों को पता नहीं था मेरी इन विचारधाराओं को खेत में अकेला जैसे रहते और इतना इन्हीं जिन मित्रों में रहते थे ना उनको भी इस बात का कोई पता नहीं ये मैं क्या समझता हूं दिन में क्या करता हूं उनको भी कोई पता नहीं मैं अपना नीचे नीचे जिसको कहते ना गए अपना दिन भर यही सोचना दिन भर यही करते रहना दिन भर ऐसे सोचना और देखो भोजन की बात सुनाता हूं जैसे जैसे उभरती गई ये बातें ईश्वर स्वामी है संसार नाशवान है ये मुख्य बातें थी आपको बताता हूं सब ईश्वर स्वामी है कौन एक भाग था नित्य क्या है नित्य क्या है दूसरा भाग था है जी तीसरा मुझे सत्य ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तीन काला में एक था और परिश्रम जिसको बोलते ना अत्यंत पुरुषार्थ भी इसके साथ ये मुख्य साधन हां एक और साधन सुना देता हूं इसमें एक साधन पूर्व जन्मों का भी जुड़ा हुआ था ऐसी संस्कार ऐसी गंभीर दार्शनिक बातों को इस स्थिति में सुलझा देना और सुलझा करके उसका निर्णय कर लेना ये पूर्व जन्म के संस्कारों के बिना इतने छह मास में किए थे प्रक्रिया मनी थी जहां तक मैं घर से संबंध तोड़ देना आदि छह मास से अधिक नहीं लगा मुझे समझ तो ये मुख्य मैंने सुना दिए थोड़े मैं क्या सुना रहा था भोजन खाते समय घर में आए और भोजन खाने बैठ गई आज इसमें नमक नहीं है या कम नमक है या कैसा बनाया है कैसा स्वाद रहा नहीं हमने तो मौत और जीना और मौत भी करे ये नाशवान है सब कुछ नहीं सब कुछ ईश्वर का है खाते समय भी वही बात और चलते समय भी वही बात और बात ही कुछ नहीं खेलना कूदना जो बाहर के हाव भाव होते हैं वो अवरुद्ध जैसे हो जाते हैं ऐसे ऐसे चलता था ये बात तो घर वालों को और मित्रों को लगभग लगभग छह मास में ज्ञात हुई है मेरी स्थिति क्या जिस दिन मैंने सब कुछ को छोड़ दिया घर में घर से निकले बाहर बैठ गए और खेत में जाना आना जितने भी थे ना सब बद हो गए वो सारे कार्य दान छोड़ बिल्कुल छोड़ और अपने ध्यान में बैठ गए पड़ोसियों के यहां जैसे रहते ना जहां वहां बैठ गए तो भाई अगले कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है कैसे कैसे होता था कैसे घर वालों ने सोचा है कितना बड़ा गांव था उसमें हजार के लगभग उस समय देव तो कस्बे जैसा हो गया होगा और हमारी जानकारी बहुत थी उस समय इस ढंग की कौन सी लौकिक ढंग से हमारी विवेक जी की जैसे मंडली थी ना बजनी वो ब्रह्मचारी मंडली जो दिल्ली में हमारी मंडली भी थी उठ फटांग वाली दूसरे ढंग से कोई बीन बजाता था तो कोई बेंजू बजाता था कोई चमटा बजाता था तो मैं बांसुरी बजाता था मैंने तीन वादे सीखे अधिक तो ऊंचे स्तर पर तो बांसे उससे कम ये भी है और उससे भी कम बैंजू और रुचि थी ना रुचि थी तो जिसको लेके चलते थे उसको झोंक देते थे भाई ये काम करो सबसे ऊंचा करो <laughs> बड़ी रोचक कथा सुनाओ एक व्यक्ति थे उनका नाम था चंदन अंग्रेजों का राज्य था और उस समय वो भारत में ये बांसुरी होती है कभी आपने कम देखी होगी आजकल क्या रिवाज लगभग बंद हो गया वो बांसुरी जो बनाते तो वो पूरे भारत में प्रसिद्ध व्यक्ति था चंदन खलीला नाम का और आकाशवाणी में बात की थी तो कहते हैं भाई ये सबसे ऊंची ऊंचे स्तर की बांसुरी बजाता हमने कहा भाई हम हम क्यों नहीं बजा सकते हम तो इससे भी ऊंची बजा के दिखा सकते हैं <laughs> मतलब लौकिक बात तो मेरा मतलब है कि वो बड़ी विचित्र अवस्था है उससे एक बार मेरा टकराव हो गया कंपनी बाग दिल्ली में <laughs> बड़ी बड़ी विचित्र कथाएं चलती है चलो कभी कथाओं में देख समय निकल जाएगा तो ये इसलिए है कि आप जो इस समय रहते हैं ना ये हाव भाव और ये परिश्रम काम नहीं देगा इसमें इतने ये तो साधन है आपके आगे चलने आपको ऐसा ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी तो उसमें ये मंथन कैसे चलता है और याद रखना जो बात सिद्ध हो जाए प्रमाणों से उसके ग्रहण करने में और जो असत्य सिद्ध हो जाए उसके छोड़ने में नन नहीं हो सकती तत्व उद्यत रहेगा ननुनच है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा प्रमाण से जो सत्य से हो जाए उस ग्रहण करने में ननुनच हो नहीं सकता और असत्य से जो उसके परित्याग में नहीं हो सकता इसीलिए उद्यत आपको रहना पड़ेगा ये एक बिंदु है उसका सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत इसमें ननुवचन नहीं है विकल्प नहीं है यदि विकल्प है तो आप समझ लीजिए आप ये स्वस्वामी संबंध की जो स्थिति है उसको ठीक नहीं समझ सकते जीवन में नहीं उतार पाएंगे अब विराम और इसको समझने का प्रयास करते जाइए आएगा समझ में और सफलता मिलेगी